ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग दिलीप कुमार के बारे में सुनिए दिलीप साहब तो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और खुदा करे उनकी उम्र दराज हो हम्म। और बहुत काम करें और हम लोग देखते रहें और सीखते रहें सेट हम्म। पर भी वो जब आया करते थे तो हमेशा कहते थे श्यामा ऐसे करो ऐसे डायलॉग बोलो तो मैं कहती थी दिलीप साहब ये तो फिर ऐसे लगेगा कि दिलीप कुमार बोल रहा है <laughs> अच्छा अब ये भी तो बताइए श्यामा जी कि ये किस फिल्म का जिक्र था जिसमें आप और दिलीप कुमार साथ थे मधुबाला जिसमें हीरोइन थी तराना आ, तराना आ, जो उस जमाने की फिल्म थी बहनों भाइयों जब दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी बहुत जोरों में चल रही थी और सुना है दोनों उन दिनों इतने उलझे हुए थे एक दूसरे में कि लगता था जैसे उनके रोमांस के शोले स्क्रीन से निकलकर जिंदगी में भी अपनी तपन फैला रहे हो में लगते हैं आंखों में उदासी है ये आ कदम जब मन तो मैंने शायद आपको बताया था कि मेरे बड़े भाई हमीद सारानी साहब का कितना जबरदस्त हाथ था मेरी ब्रॉडकास्टिंग को संवारने और निखारने में एक बात उन्होंने खास बताई थी मुझे रेडियो के गुण के बारे में उन्होंने बताया था रेडियो के बारे में ये कि रेडियो सिर्फ सुनने की चीज नहीं है देखने की चीज भी है क्योंकि हम जो बोलते हैं ना और जो गीत बजाते हैं रेडियो पर वो सुनने वालों के मन की आंखों में उतर जाते हैं और सुनने वाले खुद उन बातों और गीतों से तस्वीरें सी बना लेते हैं अपने दिल में और उन हिलती डोलती तस्वीरों में वो अपनी पसंद के रंग भी वर दिया करते हैं जी हाँ बल्कि बहनों भाइयों आगे चलकर तो मुझे यूं लगा कि शायद हम रेडियो के जरिए सुनने वालों तक शबनम का छिड़काव शूलों की गर्मी फूलों की खुशबू गालों की नरमी सब कुछ पहुंचा सकते हैं बल्कि हम खुद भी पहुंच जाते हैं सुनने वालों के घरों में और उनके पास बैठकर मजेदार गपशप और प्यार की बातें भी कर लेते हैं जैसे इस समय भी तो कर रहे हैं नहीं दिल की आवाज में इतना तो असर हो जाए मैं इधर आह करूं उनको खबर हो जाए के जरा बात करो जी मिला के जरा बात करो जी चोरी चोरी नमूला पाठ कर दे चोरी चोरी ओ चोरी चोरी नमूला पाठ कर दे खजाने कोई आया है लुटाने अज दिन है सुहाने चले आओ ना दिल के खजाने कोई आया है लुटाने अज दिन है सुहाने चले आओ ना चले आओ ना हट दिल में समा के ना ये घात दो जी दिल में समा के ना ये घात दो जी चोरी चोरी न मुलाकात करो जी चोरी चोरी ओ चोरी चोरी न मुलाकात करो जी आए तुम्हें भाई के न भाई अजी हमन ने तो आए दिल दे दिया आए दे दिया बतिया न ऐसे दिन रात करो जी बतिया न ऐसे दिन रात करो जी चोरी चोरी चोरी चोरी न मुलाकात करो जी चोरी चोरी हो चोरी चोरी न मुलाकात करो जी अखियां मिला के जरा बात करो जी चोरी चोरी करोगी अच्छा बहनों भाइयों गीत माना की छाओ में सन 1953 तक के कुछ चुने हुए मजेदार सुरीले गीतों का मजा लेते हुए हम कभी कभी कुछ हसीन फिल्म स्टारों की प्रेम कहानियों में भी ताक झाक कर लिया करते हैं, हैं? एक और असली प्रेम कहानी जिसकी उन दिनों बड़ी हवा चली थी साहब उसकी हीरोइन थी सुरैया और हीरो थे देव आनंद इन दोनों की जब पहली मुलाकात हुई थी ना तब क्या क्या हुआ था <laughs> ये आप खुद सुरैया की आवाज में सुनिए अमीन साहब सुरैया के सितारे काफी चमक चुके थे जब फिल्म विद्या साइन हुई जी एक हफ्ते का शूटिंग भी शुरू हो गया मगर हीरो का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था हम्म। खैर मैं काम करती गई शूटिंग करते हुए मेरी निगाहें सेट के एक कोने की तरफ उठ जाती थी क्या था उस कोने में सुरैया जी एक नौजवान का बुत कुर्सी पर बैठा हुआ पथराई हुई नजरों से मुझे घूरता हुआ चौथे पांचवें दिन जब मुझे ऐसा महसूस हुआ अमीन साहब जैसे उसकी पथराई हुई नजरें मेरे रोम रोम को छू लेने की कोशिश कर रही हूँ हम्म। मैंने प्रोड्यूसर को बुलवाया और कहा वो जाति शरीफ जो उस कोने में धरना दिए बैठे हैं उन्हें उठवा दीजिए तो मैं काम कर पाऊंगी वो सीधे उसके पास गए और उन्हें बाहर भिजवाने की बजाय उल्टे मेरे पास ले आए अरे अरे आपके पास ले आए <laughs> जी मैं बहुत ही आई प्रोड्यूसर साहब मुस्कुराकर फरमाने लगी इनसे मिलिए ये हैं हमारे नए हीरो देवानंद अच्छा अच्छा ये सेट का कोना पकड़कर देवानंद ही बैठे रहते थे जी हाँ देवानंद कहने लगे साथ काम करने से पहले एक नए आदमी को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए गुस्ताखी माफ और भाई फिर तो ये गुस्ताखी माफ प्यार में बदली और वो प्यार कई घरेलू रुकावटों के बावजूद बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया यहाँ तक के मनमोर हुआ मतवाला जादू डाला रे जादू डाला गिर गिर गिर बदरिया भोले दान पिया पीअ पीअ शर्मा अच्छा मैंने जब सुरैया को इंटरव्यू किया था ना तो उनसे ये भी पूछा था कि सुरैया जी सुना है कि देवानंद साहब इतने सीरियस थे आपसे शादी करने के लिए कि उन्होंने शादी के प्रस्ताव के रूप में एक खूबसूरत अंगूठी भी भेजी थी आपको तो फिर वो बात शादी तक आ, क्यों नहीं पहुंची <laughs> तो इस बात पर सुरैया कुछ इठलाई कुछ शर्माई और फिर कहा कुछ नहीं बस हंस दी <laughs> क्या ओफो ओके ओके और भाइयों अब हसीनों की हंसी का नशा छोड़िए और नजर डालिए उन्नीस में मुझ पर पड़ी हुई बल्कि रेडियो सिलोन की इंडियन एजेंसी के सारे दफ्तर पर पड़ी हुई मुसीबत पर साल के आखिर में गीतमाला की प्रतियोगिता यानी कंपटीशन के लिए हर हफ्ते आने लगे थे साठ हजार से भी ज्यादा खत इतनी सारी एंट्रीज की चेकिंग में सारे दफ्तर वालों की जा रही थी जान क्योंकि दफ्तर के टेबलों पर कुर्सियों पर और कमरों के कोने कोने में बस चिट्ठियों के ढेर लगे थे ये फिर शुक्र है कि दफ्तर वालों ने भी और हमारे स्पॉन्सर ने भी ये तय किया कि भाई अब बंद करो गीतमाला का कंपटीशन और गीत माला को बना दो पॉपुलैरिटी की हिट परेड यानी जनता की लोकप्रियता की मकबूलियत की हफ्तावार यानी कि साप्ताहिक संगीत सीढ़ी संगीत सीढ़ी का मतलब संगीत प्रेमियों का प्यार पाकर गीतों का उभरना चोटी तक पहुंचना फिर गिरना और गायब हो जाना जब ये तरीका मुझे पहले बताया गया ना तो मेरी समझ में तो आया ही नहीं बल्कि मुझे वो बड़ा अजीब और बकवास लगा और मैंने हमीर भाई से कहा भी कि नहीं नहीं मेरी गीतमाला का रूप मत बिगाड़िए ना प्लीज सारे एशिया के लोग इसे दिल दे चुके हैं मगर हमीद भाई ने समझाया कि भाई ट्राई करके तो देखो कि कैसा मजा आता है हिट परेड में है? और बहनों भाइयों मुझे फिर कुछ यूं भी लगा कि मेरी गीत माला भी मुझे अपने प्यारे प्यारे नैनों से देखकर मुस्कुरा कर कह रही है कि अरे बुद्धू जरा सोच तो कि हिट परेड की संगीत सीढ़ी अगर आएगी तो साठ हजार चिट्ठियां तो नहीं लदेंगी तेरे सर पर और तेरा काम कितना आसान हो जाएगा हुँ? हम्म? <laughs> तब जाकर मानो भाइयों मुझे जरा होश आया और मैंने गीतमाला को कुछ इस तरह से थैंक यू कहा दो नैना तुम्हारे प्यारे प्यारे गगन के तारे करे ये इशारे दिल दिल से मिलाएंगे दिल दिल से मिलाएंगे के शर्म के मारे सजन हम हारे चलेंगे दिल जिसे न तुम्हारे प्यारे तारे गगन के तारे अरे ये सारे दिल दिल से मिलाएंगे दिल दिल से मिलाएंगे मगर बहनों और भाइयों गीतमाला के ये नया रूप यानी संगीत सीढ़ी पर गीतों की तकदीर का उतार चढ़ाव शुरू हुआ 1954 से पर अगर ये नया रूप एक साल पहले यानी 1953 में भी जारी होता तो आप जानते हैं कौन सा गीत शायद उस साल वार्षिक संगीत सुड़ी की छूटी पर होता वो गीत भी अभी बजाता हूँ आपके लिए बहनों भाइयों मगर पहले जरा सुन लीजिए उसी फिल्म के कुछ और गीतों की झलक है ये तमाम गीत भी बहुत हिट हुए थे जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है आंकड़ा के मुताबिक उन्नीस की म्यूजिकल सुपरहिट फिल्म अनारकली ही थी और सबके अंदाजे के अनुसार अनारकली का सबसे ज्यादा पॉपुलर सबसे ज्यादा चलने वाला गीत था ये, ये अच्छा भाई अनारकली के हीरो कौन थे याद है ना आपको हाँ, तो एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि ये बताइए प्रदीप कुमार साहब क्या अनारकली ही आपकी पहली हिंदी फिल्म थी तो प्रदीप कुमार बोले जी नहीं आनंद मठ मेरी पहली हिंदी फिल्म थी अच्छा अच्छा और उससे पहले आप बंगाली फिल्मों में काम कर चुके थे जी हाँ अगर आपको इतराज न हो तो ये बताइए कि उस जमाने में तो वो एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट हुआ करते थे ना कि जी हाँ। मतलब सिर्फ मतलब फिल्मिस्तान में यही काम की तीन साल तक हम्म। बाहर काम करने की इजाजत नहीं इजाजत नहीं थी तो तनख्वाह क्या मिलती थी आपकी अगर पूछू तो शुरुआत एक हजार रूपये अच्छा तो उसके बाद एक तरक्की हुई अनारकली के वक्त अच्छा डेढ़ हजार कर दिए थे अच्छा तो उस जमाने में डेढ़ हजार तो बहुत होते होंगे <laughs> अच्छा तो फिर तीन साल के बाद आप फिल्मिस्तान से निकले आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि अनारकली रिलीज होने के बाद और कामयाबी हासिल करने के बाद दस महीने तक मैं बेकार रहा हो हो हो जी हाँ किसी ने अफवाह फैला दिया बदनाम कर दिया कि भाई ये बंगाली है उर्दू जबान उसकी जबान दुरुस्त नहीं है हम्म। उनकी डायलॉग डब की गई है इस तरह मैं बहुत मायूस हो गया था और इस सोच में मैं पड़ गया था भाई क्या करें अभी तो I was thinking to go back to Bengal back to math sells मेरी खुशनसीबी थी कि उन दिनों में दो बड़े हस्ती का ऑफर मुझे मिल गया था हम्म। एक मिस्टर अमीय चक्रवर्ती अच्छा था हम्म। मगर उससे पहले मिस्टर वी शांताराम के एक ऑफर मुझे मिला और भाई फिर तो प्रदीप कुमार का करियर जोरों में चल पड़ा खैर साहब वॉल्यूम नंबर तीन के क्लाइमैक्स के करीब पहुंचकर अब मैं जिक्र करना चाहूंगा एक महान म्यूजिक डायरेक्टर का हम्म वो लाजवाब संगीतकार जिन्होंने अपने और कई साथी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ मिलकर प्लेबैक सिंगिंग के जमाने की शुरुआत की उनसे पहले तो आप जानते हैं सितारे खुद ही गाया करते थे और उनके गाने शूटिंग के समय ही बड़े अजीब तरीकों से रिकॉर्ड होते थे और फिर मझा हुआ माइक्रोफोन आया स्टूडियो की शानदार रिकॉर्डिंग शुरू हुई सितारों के लिए अच्छी अच्छी आवाजों ने गाना शुरू कर दिया फिल्म संगीत में एक पुख्तगी एक शानदार सजावट आई संगीत का रोमांस जागा शब्दों के रूप में एक प्यारा सा निखार आ गया तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना रती कटील नदील हा राम रतील कटिले हा राम सुध में न रती कटी लाम सुना बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए रंग उड़ा है फूलों का दिल क्षमा का बैठा जाए रंग उड़ा है फूलों का हाँ इन नजरों के आगे कोई इन नजरों के आगे कोई इन नजरों के आगे कोई कैसे नजर उठाए कैसे नजर उठाए हाय राम कैसे नजर उठाए हो तोरे नैना पील कटिले हा राम सुधन नचीले कटिले हा राम सुध रही है नागन जुल्फे मुख पर हल्के हल्के झूम रही है नागन जुल्फे मुख पर हल्के हल्के सर से आंचल हल्का जाए सर से आंचल हल्का जाए बैठो जरा संभल के सर से आंचल हल्का जाए जाने क्या कर बैठे दिल हो न जाने क्या कर बैठे दिल ना जाने क्या कर बैठे दिल मेरा आज मचल के दिल मेरा आज आज मचल के हाय दिल मेरा आज मचल के हो तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना रसीले कटीले लजीले हाय राम रसीले लजिले हाराम तो ये संगीत रचना फिल्म म्यूजिक डायरेक्टरों के भीष्म पितामह अनिल विश्वास की थी जिनके जीवन का बेहतरीन संगीत 1953-54 से पहले ही आ चुका था उसके बाद एक ऐसी दुख भरी घटना घटी उनके जीवन में कि वो फिल्म संगीत का सिंहासन त्याग कर फिल्मों से रिटायर हो गए मगर बहनों भाइयों एक बार गीतवाला के एक खास प्रोग्राम के लिए मैं उनके पास गया और बोला अनिल दा गीतमाला के सुनने वाले करोड़ों संगीत प्रेमी तरस रहे हैं आपके मुख से प्यार के दो बोल सुनने के लिए तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड कर दीजिए ना तो बहनों भाई भाइयों सुनिए उन्होंने क्या संदेश दिया था आप सबके लिए मेरे गीतों की दुनिया के दोस्तों आदाब जवान आज को बीता हुआ कल का नमस्कार आपने हमें याद किया ये क्या कम है कि आज भी हम याद आते हैं हम बीते हुए कल अगर याद आ जाए अपने भरे पैमाने से जरा सी छलका देना नहीं दोस्तों मैं उदास नहीं हूँ मायूस भी नहीं फकत तकाजा वक्त को समझता हूँ तो अलविदा मेरे गीतों की दुनिया के कदरदान जरसा नवाज आज इस इल्तिजा के साथ तुमसे रुखसत होते हैं कि नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है खुदा हाफिज बस बहनौर भाइयों इसके बाद किसकी हिम्मत हो सकती थी कुछ कहने की हुँ? हम्म? मैंने भी उस प्रोग्राम में उनके उस संदेश के जवाब में बस उन्हीं के संगीत में लिपटा हुआ एक गीत पेश कर दिया था और वही गीत फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के महान सितारों के लिए यहाँ भी पेश करके आपका साथी अमीन सायानी गीतमाला की छाव में के अगले वॉल्यूम तक अब हो जाता है चुप